गौरी कुंड में क्या हाल अभी है जैसे वहाँ पे लोग आ, लोगों के मारे जाने की बड़ी संख्या में उम्मीद बता रहे हैं लोग इतने लोग मारे गए होंगे ये क्या स्थिति है वहाँ पे बताएं स्थिति सर वहाँ पे बहुत बुरी है सर वहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं हम भी जब वहाँ से निकले सर अभी तो बड़ी मुश्किल से जाने बचे हम भी लाशों के ऊपर से आए कम से कम एक हजार लाशें वहाँ पड़ी हुई है महामारी वहाँ फैली हुई है बहुत दुर्गंध आ रही है वहाँ पे कहीं कहीं से भी बड़ी मुश्किल से हमने जान बचाई हम भी अपने साथ कम से कम पंद्रह बीस आदमी को बचा के ले आए जिसमें से पांच आदमी तो हमारे साथ आना ही बंद कर दिया कि उन्होंने नहीं चल पाया हम भी क्या करते सर इतने जान बचा से बड़े बड़ी मुश्किल से आए इधर जी हेलो हाँ हाँ बोलिए हाँ जी उसके बाद तो सर बड़ी मुश्किल से रात कहीं रुके हम अभी पंद्रह मिनट पहले यहाँ गुप्तकाशी घर में पहुँच रहे जी वहाँ की स्थिति बहुत भयानक है सर प्लीज वहाँ कुछ करिए सर नहीं तो और भी जितने भी लोग बचे हुए हैं वो सब मारे जाएंगे सर अभी हम कल आ रहे थे तो हमारे पास कम से कम एक किलो चावल